देखो भाई दुनिया की याद करने में कितना दुख है ये आपको आज नहीं मालूम रच पच गए उसी में जहर का कीड़ा जहर खाता है पनाले का कीड़ा पनाले में सुख मांगता है हमारा मन संसार के विषयों में ऐसा सुख मानने लगा है कि उसको पता ही नहीं चलता कि संसार के चिंतन में कितना दुख है कितनी बेचैनी है सौ सौ धक्के खाए तमाशा घुस के देखे रोज पिटते रहते हैं रोते रहते हैं दिन भर में शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान स्थान से हजार बार रोते हैं हजार बार करते हैं लेकिन फिर भी संसार से अपने मन को अलग नहीं करते थोड़ी देर के लिए आओ अपने मन को अलग कर लो ले चलो वहाँ जहाँ कृष्ण है जहाँ अर्जुन है जहाँ दोनों में बातचीत हो रही है आप समझो कि मत समझो भगवान का दर्शन तो होगा अच्छा भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये संसार का जो दुख दोष है ये थोड़ी देर के लिए छूट तो गया ना आखिर आप पिकनिक मनाने के लिए जाते हो कश्मीर जाते हो स्विट्जरलैंड जाते हो अपने घर के काम धंधे से थोड़ी देर छुट्टी मिलने पर शांति का अनुभव करते हो आप रोज रोज कर लो ना घर में ही घर में थोड़ी देर के लिए दुनिया की चिंता छोड़ करके आओ उस जगह जहाँ श्री कृष्णार्जुन संवाद हो रहा है अध्येष्यते च संवाद धर्म्यं संवादमावयो श्रीकृष्ण ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् भगवान कहते हैं कि यदि तुम अध्ययन करोगे इसका पढ़ोगे तो वो हो जाएगा ज्ञान यज्ञ तरह तरह के जगह होते हैं अब आपको ऐसा जगह सुनाते हैं कि जैसे जजमान जगह करते हैं ना तो उसमें तो पत्नी भी चाहिए ना यज्ञ करने के लिए वेदी बनाना पड़ेगा सामग्री लानी पड़ेगी शुद्ध घी नहीं मिलेगा शुद्ध ईमानदारी की कमाई का साकल्य घी शुद्ध गाय का घी दालदा से तो और नहीं होता है भैंस के घी से होम नहीं होता शुद्ध गाय का घी अब आप देखो सामग्री चाहिए शुद्ध मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण चाहिए मंत्र बोलने में जरा सी भी अशुद्धि हो जाए तो ब्राह्मण का कुछ नहीं बिगड़ता बिगड़ता है जजमात का लेकिन शास्त्र का निर्णय है स्वभाग वज्रो यजमान ही नस्ते क्यों तो जजमान का ये कर्तव्य था जब ब्राह्मण पैदा हुआ तब से उसका संस्कार करवाता जिनको उम्मीद करवाता उसको गुरुकुल में रखता उसको वेद पढ़ने की व्यवस्था करता है जनमान का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण को पढ़ा लिखा कर ऐसा विद्वान बना ले एक स्वर की भी गलती वेदोच्चारण में न हो एक स्वर की ही गलती वेदोच्चारण में न हो ये तो जजमान का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को इतना विद्वान बना के रखे उसने अपने ब्राह्मण को पुरोहित को विद्वान नहीं बनाया पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं अपने पुरोहित को मूर्ख बना दिया उसने तो अब वो अशुभ मंत्र का उच्चारण करेगा गुस्सा वाद वज्रो यजमान हिनस्ते वाद वज्र हनुमान को तो ये जो कर्म यज्ञ है इनकी स्थिति अलग करने वाला अधिकारी होना चाहिए समय पर होना चाहिए शुद्ध सामग्री चाहिए ब्राह्मण चाहिए मंत्र का शुद्ध उच्चारण चाहिए दीक्षा से लेकर के पूर्णाहुति पर्यंत अवभृत स्नान पर्यंत सारे कर्म बिल्कुल ठीक होने चाहिए तब जगह का फल मिलेगा तो बोले भगवान के देखो हम सबको एक ज्ञान यज्ञ होता है इसमें कुछ नहीं देना इसमें ना यजमान के अधिकार की आवश्यकता है क्योंकि वेदांत में जाति की दृष्टि से अधिकार नहीं ये शंकराचार्य को सुरेश्वराचार्य को विद्यारायण स्वामी को सबको मानने हैं वो तो यजमान की बात गई अधिकार की बात पर ज्यादा विचार नहीं करना है सामग्री कोई चाहिए ही नहीं न घी चाहिए न तेल चाहिए न चावल चाहिए न जौ चाहिए न कुशा चाहिए न वेदी चाहिए हाँ, हाँ, दस केवल स्वाध्याय करो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच जतय संचित व्रता जैसे एक सन्यासी हवन यज्ञ नहीं करता है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करता है वैसे आप गीता का करो ज्ञान यज्ञ तेनाम ज्ञान यज्ञ होगा वो ज्ञान यज्ञ बोले महाराज यज्ञ के द्वारा तो देवताओं को आहुति दी जाती है इधर इंद्राय न मम इधर अग्नये न ममा ये आहुति ये ज्ञान यज्ञ की आहुति किसके लिए होगी बोले हम इष्ट इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी मेरी पूजा होगी मेरा यजन होगा हाँ, मेरा यज्ञ होगा इति नहीं मति ही बोले भाई कोई ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं अध्ययन नहीं कर सकते हैं क्या उनके लिए भी गीता में कोई गुंजाइश है ये मैं कमीशन हाँ ना ये मैं कमीशन कांड पढ़ रहा हूँ गीता का बोला ये कमीशन कांड है गीता का लो कमीशन लो श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादभिजो नरः सोऽपि लब्ध्वा सुखाम् लब्ध्वा सुधाम लोका भगवान कहते हैं कि श्रद्धा के साथ और दोष दृष्टि किए बिना श्रद्धा हृदय की संपदा है यही पूंजी है जैसे व्यापार करने के लिए धन की पूंजी होती है व्यापारियों के पास युद्ध करने के लिए बल की पूंजी होती है क्षत्रियों के पास जैसे यज्ञ जागादी करने के लिए विद्या की पूंजी होती है ब्राह्मणों के पास वैसे महाराज गीता पढ़ने के लिए पूंजी चाहिए तो श्रद्धा की श्रद्धा के बिना परमार्थ की कोई बात तो श्रदिति या अभिधान श्री मध्वाचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्रद्ध माने आस्तिकता जो बात कही गई गीता में आप उसको स्वीकारिए स्वीकार करते जाइए ये ऐसी है ये ऐसी ही है श्रदिति सत्य नाम श्रत माने सत्य सत्यत्व नाम धारण करने का नाम है श्रद्धा यदि श्रद्धा न हो तो वेदांत मार्ग में भी कोई नहीं चल सकता हो ये दूसरी बात है वेदांत वेदांत एक यथार्थ का प्रतिपादक शास्त्र है इसमें जो लिखा है उसका लोगों को अनुभव होता है वेदांत के स्वाध्याय से मुक्ति मिलती है ये सब श्रद्धा किए बिना आप वेदांत काहे को पढ़ोगे तो वेदांत में भी श्रद्धा है तो भाई मुक्ति कैसे मिलती है कर्म से मिलती है कि उपासना से मिलती है कि योग से मिलती है या नहीं ज्ञान होने के पहले मानना पड़ेगा कि केवल ज्ञान है इसका नाम श्रद्धा आपको मालूम नहीं है कि तत्व ज्ञान कैसा होता है पर मानना पड़ेगा कि हमारे गुरु जी तत्व ज्ञानी है महात्मा केवल श्रद्धा से महात्मा मालूम पड़ता है परमात्मा अनुभव से मालूम पड़ता है परंतु महात्मा केवल श्रद्धा से मालूम गुण देख के मानोगे तो किसी दिन नहीं देखोगे असल में श्रद्धा तो दूसरे पर करनी ही पड़ती है एक दिन आदमी बहुत प्रेम करता है बहुत सेवा करता है और दूसरे दिन महाराज हाँ, मूड जब बिगड़ता है, है? जाहिर कर देता है कि नहीं नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है तो देखना पड़ता है कि भाई हृदय में श्रद्धा तो है इस समय जो साबित आने से है ना वो दब गई है तो विश्वास करना पड़ता है कि आगे मूड ठीक हो जाएगा पत्नी बिगड़ती है मैं चाहती पति कहता है कि बस आज आई मोर पत्नी पत्नी चुप हो जाती है दो तो दिन में बस मूड ठीक हो जाता है, एक दिन में ही ठीक हो जाता है तो ये श्रद्धा रहती है कि नहीं आगे ये ठीक हो जाएगा तो आगे ठीक होने की श्रद्धा के बिना तो आप व्यवहार भी नहीं कर सकते तो श्रद्धा वित्तो भूतवा आत्मन्य व आत्मान पश्चे श्रुति कहती है कि श्रद्धा की पूंजी लेकर के रास्ते के लिए चाहिए श्रद्धा जानासी सम बल बलम बलमध्वगानाम नो संबलाय जतसे परलोक हो हम पहले गरुड़ पुराण की कथा करते थे वो जब कोई मरता था तो गरुड़ पुराण की कथा उसमें जानासी सम बल बलम बलमध्वगानाम तुम जानते हो कि जो लोग रास्ता तय करते हैं पैदल चलते हैं उनके पास कुछ कलेवा होना चाहिए खाने के लिए रास्ते में कुछ नाश्ते की सामग्री जरूर होनी चाहिए यही ही यात्री का राही का बलोही का बल है बोले नो संबदाय जतते परलोक मान तुमको इतना बड़ा रास्ता तय करना है मरने के बाद उसके लिए तुम अपने पास कुछ नाश्ते की सामग्री नहीं रखते हो तो नाश्ता क्या है श्रद्धा श्रद्धा बिंदु भूतवा आत्मनिव आत्मान पत्ते एक महाराज एक स्वयंभू आचार्य को मैंने सुना पहले कि वो कहते हैं कि श्रद्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं दस बारह बरस पहले की बात है कहते थे श्रद्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं हम बिना श्रद्धा के ही तुम्हें सत्य का साक्षात्कार करवा देंगे अब भी ऐसे हैं अब महाराज थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि उनके पास बहुत से जिज्ञासु आ गए बहुत भाई श्रद्धा नहीं करनी पड़ेगी और परमात्मा मिल जाएगा जब इकट्ठे हो गए दस बीस हजार जब इकट्ठे हो गए तब वो व्याख्यान देने लगे कि श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता पहले लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहते थे श्रद्धा करने की कोई जरूरत नहीं है और जब इकट्ठे हो गए तब बोले श्रद्धा करो हाँ एक एक सज्जन ने क्या कोलाहल मचाया अल्लाह कि हम तीन मिनट में आपका की समाधि लगवा देते हैं ध्यान लगवा देते हैं आप तीन मिनट में लगवाओ जब लोग इकट्ठे हुए तब बोले कि पहले हमारे शिष्य बनो और इस मंत्र का छह महीने जप करके आओ तब तीन मिनट में लगवा लो लो भाई तो बिना श्रद्धा के श्रद्धात्व श्रद्धात्व सौम्य श्रद्धात्व पात श्रद्धात्व राष्ट्रमोहम हो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा स्वाम प्रकृत परा श्रद्धत्व सात श्रद्धत्व अष्टावक्र जैसा बमदोला फेंकने वाला बोलता है श्रद्धा करो श्रद्धा करो श्रुति बोलती है श्रद्धा विष्णु बोलता आत्मदेव आत्मान पृष्ठे श्रद्धा की पूंजी से तो आप गीता पढ़ने के लिए आवे तो श्रद्धा करें एक मान लें कि हाँ ये बहुत बढ़िया वस्तु है और इससे हमारा परम कल्याण होगा और दूसरी बात क्या है एक अनसूयस्त अनजान में हो मूर्ख लो और बताओ आप हमसे ये कहते हो कि दर्जा चार में पढ़ने वाले विद्यार्थी और ईश्वर को परलोक को धर्म को नहीं मानते हैं तो इनको समझा दो देखो एक बात है ये पढ़ा एम ए पढ़ा अब उनको धर्म के बारे में तो कोई जानकारी शुरू से दी नहीं गई वेदांत पढ़ाया नहीं गया तो अब उनको हम चल के तुरंत धर्म और ईश्वर की बात समझा दें नहीं बहुमत से उन्होंने कह दिया कि नहीं धर्म नाम की कोई चीज नहीं है पड़ गया वोट ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है इक्यावन प्रतिशत तो वोट से ईश्वर हार गया ही नहीं अब रूस में वोट पड़ गए ईश्वर के लिए तो ये है धर्म और ईश्वर मूर्खों के वोट से सिद्ध न हो अश्रद्धालुओं के वोट से सिद्ध न हो ये बात दूसरी है अनसूय पहले आपको इस मार्ग में चलना है तो अनसूयू बन जा अनसूया अत्री की पत्नी है अनसूया अत्री माने त्रिगुणातीत ब्रह्म अनस्क्रिया माने जिसमें दोष दृष्टि नहीं है उसके पुत्र कौन है तो ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय भगवान स्वयं भगवान उस अनसूया के बेटे हैं अनसूया के अनसूया माने जो किसी में दोष न निकाले यहां यो विवाह यहां यो विवाह करे तो चोर है तो बाबा काल में वृद्धि चलती है इसमें चोर भी होते आए हैं और ईमानदारी की बात है कई बार हम लोग भी चोर थे कई बार हम लोग भी चोर इस जीवन में भी चोरी कौन छाती पे छाती पहुंच के कह सकता है कि हमने कभी चोरी नहीं की वो ईसा की बात आप लोगों ने सुनी होगी एक जगह भीड़ इकट्ठी थी सब लोगों के हाथ में ढेला ईसा ने पूछा क्या बात है बोले ये चोर एक पकड़ के रखा है बीच में खड़ा किया है हम सब लोग इसको ढेले से मारेंगे और ये मर जाएगा जब तक मरेगा नहीं तब तक ढेला फेंकते रहेंगे चोर है चोर ईसा ने कहा बात तो सही है चोरा चोरी की तो अपराध किया चोर है दंड का बाद है पर आप लोगों में से पहला ढेला वो आदमी मारे जिसने कभी चोरी न की सबके हाथ रुक गए हो हाँ, बचपन में एक कलम की चोरी कर ली थी एक चाकू की चोरी एक किताब की चोरी कर ली थी लड्डू चुरा के खा लिया था याद करो तो अनसूया का अर्थ ये है कि ये संसार में दोष गुण चलते ही रहते हैं बोला ये सुनभुतात मायाकृत गुण और दोष न ये अभय न देखिए देखिए इसको अभिवेक सृष्टि गुण दोष में सृष्टि कीन करता विश्व कीन करता संत हंत गुण ग्रहण पय परिहरी बार द्वार विकार असूया का असूया नहीं हो नहीं तो निकालते फिरोगे दोष निकालते फिरोगे इसमें ये दोष अपने जिसमें ये दोष ये दोष सूर्य को इतना गर्म क्यों बना दिया चंद्रमा को ठंडा क्यों बना दिया ईश्वर का दोष बताएं और ये समुद्र अगर खारा न होता मीठा बनाया होता तो पानी के लिए किसी को कभी कोई किल्लत नहीं होती हो तो पक्षे ने इतना बड़ा समुद्र बनाया और बिल्कुल खारा खारा खारा सीताराम सीताराम को हाँ। ईश्वर में दोष निकालो आखिर ये पाप क्यों बना दिया ये नरक स्वर्ग क्यों बना दिया ये जाना आना क्यों बना दिया अरे बस मौज मौज बनाता मजा मजा बनाता हम सब लोग सुखी रहते न रोग बनाता न मौत बनाता है न प्यार देता न प्यार से में प्यार देता तो प्यार में भी छोड़ना न देता अहो विभाग सवन घोषित गया भागवत में लिखा है बड़ा निर्दय है परमेश्वर पहले तो हृदय में देता है प्यार और फिर दोनों को अलग अलग कर देता है बड़ा निर्दयी है बाबा बड़ा निर्दय बड़ा निर्दय तो यदि दोष निकालना हो तो ईश्वर को भी हम बकस नहीं सकते ईश्वर में भी दोष है तो श्रद्धावान अनसूय आप अपने अंदर दो गुण धारण कीजिए एक तो श्रद्धा और एक एक गुण धारण कीजिए श्रद्धा और एक दोष छोड़ दीजिए असूया एक सज्जन कहीं यात्रा कर रहे थे वो रास्ते में देखा काफी फर्क लगा हुआ था इससे बड़े बड़े बड़े जानते हैं यहाँ तो छोटे छोटे आते हैं हम लोगों की तरफ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ऐसे फैले हुए थे देखा फिर थोड़ी देर आराम किया लेट गए तो पेट पर देखा आम फले हुए बोले भाई ईश्वर को सृष्टि बनाने का स्वरूप इतना ऊंचा पेड़ और उसमें तो जरा जरा से आम छोटे छोटे थे और ये धरती पर इतने बड़े बड़े काफी फल पौधे में पतले पौधे में दुबले फल पतले सो गए महाराज सो तो ऊपर से आम टूट के एक गिरा उनकी छाती पर बोले नहीं नहीं ईश्वर की गलती नहीं है, है? अगर बड़ा भारी कटार होता ऊपर समझो और छाती पर गिरता तो फटी जाता है ये तो आम ऊपर बनाया ठीक है छाती सह गई कटहल को तो सह नहीं सकती तो ये लोग जो ईश्वर की क्रिया में कारस्थानी में जो दोष निकालते रहते हैं ना वो गीता पढ़ेंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी बिल्कुल असूया से रहित होकर किसी में दोष मत निकाल वो आदमी किस युग में पैदा हुआ है किस जगह में पैदा हुआ है, है? किस परिवार में पैदा हुआ है उसके पूर्व जन्म के संस्कार कैसे हैं नाना नानी कैसे हैं दादा दादी कैसे हैं जिस गोत्र में पैदा हुआ है उसमें लोग कैसे होते रहे हैं उसके संस्कार कैसे हैं इन सब बातों को जाने बिना और किसी में दोष निकालना या अज्ञान तो भगवान ने कहा एक तो हृदय में श्रद्धा धारण करो और दूसरे के गुण में दोष मत निकालो ये अपने ही हृदय कलुषित होता है निश्चित पर होगी हम चाहते हैं कि दोष दूसरे के हृदय में न रहे पर जब उसकी याद करते हैं तब वो अपने हृदय में आ जाए एक कवि ने तो कहा कि दोष बना के भगवान ने बहुत बढ़िया किया तो बोले क्यों किंतु चक्षुर मृगाक्षी नाम का जल ही देव भविष्य है बढ़िया बढ़िया तो आंख बनाई भगवान ने क्या तो हैं क्या हो चितवन सुंदर क्या बढ़िया आंख और ये श्रीमती लोग क्या करते हैं उस पर कालिक सोचते हैं कज्जल ही रहे से काजल लगाने से काजल लगाने से आप और सुंदर लगते हैं तो भगवान भी जैसे आप अपने बच्चे को दिखाना जरा सा काला बिंदु लगा देते हो ना कि किसी की नजर नहीं लगे वैसे ही भगवान जब अपने बच्चों को बनाते हैं तो उसमें एक काला सा सेल एक डिठौना लगा देते हैं वो एक फकीर थे तो वो तमाशु किया करते हुक्का सिंधी थे सिंध में पहले हुक्का पीने की रिवाज होगी वो हुक्का पीते थे एक दिन किसी ने पूछा ये हुक्का भला क्यों पीते हैं इतने बड़े साथ संत होके हुक्का पीते हैं तो दूसरे संत ने कहा कि अंतरात्मा को धूप देते हैं <laughs> अच्छा भाई बच्चों भाई बाला वहां जन्म मरण भी मिट गए और न रहने की न होने की कल्पना भी मिट गई अद्वितीय अनंत है आपका स्वरूप सीधी साधी बात इसको टेढ़ी बनाने में इसके लिए अद्वैत सिद्धि पढ़ने की जरूरत है न खंडन खंड खाद्य पढ़ने की जरूरत है न चित सुखी पढ़ने की जरूरत है न भेद धिक्का दूसरे को मारने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है अपने को मारने के लिए सुई काफी होती है तो ये जो देह में मैं मेरा है इसी से ये संसार दिखता भी है और इसी से ये संसार सच्चा भी मालूम पड़ता है संसार का मालूम पड़ना और संसार का सच्चा मालूम पड़ना ये दोनों बात केवल देह में हड्डी मन चांद से इस पुतले में मैं और मेरा करने से मालूम पड़ते हैं तो आओ जरा इस दृष्टि को देह और देह के संबंध से जो कुछ मालूम पड़ता है उससे अलग करें इसमें शास्त्र संस्कार डालें इसमें गुरु संस्कार डालें अपने आप को देह के मैं मेरा से अलग करें मैंने पहले श्लोक लिखे हैं सभी कृष्णामृतई रतिरथ जननी प्राप्य गोपाल दीक्षा दीक्षा चक्रे तदीया जननयन मनोमोहनी आत्ममूर्ति शिष्टैरिष्टैर्विशिष्ट अविषय विषया शांकरी ब्रह्म विद्या लब्ध्वात्मन्यात्मतुष्टोऽनुभवति परमं तत्त्वमात्मस्व पहले मिले गुरुदेव उन्होंने कहा बेटा यही सब कुछ नहीं है जो तुम देख रहे हो और भी कुछ है हमको मौत दिखती थी हो ऐसा हमारा ज्योतिषियों ने दिमाग में भरा था बस मौत होने वाली है उन्नीस वर्ष की उम्र में मौत होने वाली है भर दिया हमको तो बस मृत्यु मालूम पड़े मृत्यु सर्वतो मृत्यु गुरु जी ने कहा कि देह में जब तक मैं है मेरा है तब तक मृत्यु मालूम पड़ती है आओ हम तुम्हारे प्रेम को इधर से खींच के भगवान में लगाते हैं कृष्णानुरागी संतों ने हृदय में भक्ति रस भरने वाली रति रस जननी गोपाल दीक्षा जो गोपाल सातवें उपनिषद में प्रभाव विधिपूर्वक उसको वेद भाई दीक्षा कहते हैं क्रियावती दीक्षा सब पूजा पत्री कर्मकान होते बड़े महापुरुष थे उनका नाम था स्वामी जो उन्होंने हमको गोपाल दीक्षा दी उस दीक्षा का फल ये हुआ प्राप्त गोपाल दीक्षा वीक्षा चक्रे तदीया नयन मनो आत्मूर्ति भगवान की जननयन मनोमोहनी और आत्मरूपा मूर्ति का दर्शन शिष्टैरिष्टैर अविषय विषया शांकरी ब्रह्म विद्या लब्ध्वा फिर सदगुरुओं की सेवा करते शिष्ट सदाचारी शिष्ट विशिष्ट सदगुरु की सेवा करें उससे जो इंद्रियों का विषय नहीं है जो मन बुद्धि का विषय नहीं है आत्मस्वरूप है वो आत्मा ही ब्रह्म है ये शंकर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है ब्रह्म विद्या लब्ध्वात्मन्यात्मतुष्टः लब्ध्वात्मन्यात्मतुष्टो नुभवती परम तत्त्वमात्मस्वरूपम् दृष्टि बाहर से भीतर आई आत्मतुष्टि का अनुभव हुआ और ये आत्मा ही परमात्मा है इस अनुभव का उदय होगा निर्भेदोऽपि स्वदेहम् सविषयकरणग्रामगेहम् प्रसास्तुः हस्तन्यस्तम् प्रपश्यन् निरवधिकरुणा वारिहेर्दन्त्वमिति सर्वम् वर्धर्ति तस्मिन् स च हृदि हृदयम् निर्द्वयम् ब्रह्म तस्मात् एकम पास्पर्धी तो परम परमिदम पास्पृषी तो एक विद्या एक ही परमात्मा अभी हमारे पुरोहित जी भारतीय विद्या भवन के प्रधानाचार्य हैं वो बड़े कई शास्त्र के विद्वान हैं हम तो वेदांत के व्याकरण के साहित्य के आचार्य हैं कई शास्त्रों के विद्वान वो दृष्टांत दे रहे थे कि गाय कई रंग की दूध एक महाभारत का श्लोक भागवत में ऐसा वर्णन है यथेन्द्रिय पृथक द्वार ही अर्थो बहुगुणाश्रय एको नाने यते तद्वत भगवान शास्त्रवर्म भी वस्तु एक है एक फूल ले लो हाथ में एक फूल है तो नाक ने बताया कि सुगंध है चमेली है गुलाब है कमल है हाथ ने बताया लाल है सफेद है पीला है श्वेता ने बताया कोमल है कठोर है श्वेता ने बताया कड़वा है मीठा है जब चुरमुर करने लगा सूख के तो कान ने बताया इसकी आवाज कैसी है लेकिन फूल तो एक ही है हमारी इंद्रियां अलग अलग हैं जथेन्द्रिय पृथक द्वारा ही अर्थो बहुगुणाश्रय शब्द स्पर्श रूप रस गंध चौबीस गुण उसमें भरे हुए हैं हमारी इंद्रियां बताते हैं एको नाने यते एक फूल लाना मालूम पड़ता है तदवत भगवान शास्त्र वर्तन भी ऐसे परमात्मा एक है जो जैसी साधना करता है उसको वैसे भगवान मालूम पड़ता है निर्देशेदोपि स्वदेह सविषय करण ग्राम गेहम विधातुर्हस्तन्यस्तम प्रपश्यन निरवधि करुणा बारिधेद भेद नहीं होने पर भी ये विषय ये इंद्रिय ये देह सब क्या है कहिए परमेश्वर प्रसादता अंत प्रविष्ट शास्त्रा जना परमेश्वर के हाथों में समर्पित है न मैं न मेरा परमेश्वर के हाथों में सर्पित समर्पित है नचावे तो नाचे गवावे तो गावे बोलवावे तो बोले चलावे तो चले हस्तन्यक्तम तपस्या कहते हैं परमेश्वर कहते हैं कि निरवधि करुणा वारी दी है अनंत करुणा के समुद्र हैं परमेश्वर उनके हाथों में ये शरीर और ये सारा प्रपंच विषय करण देह सब के सब परमेश्वर के हाथों में प्रबंध बस यही दृष्टि है सर्वम से तस्मिन कृतन बनी थी जैसे संख बोलता है ऐसे ये शरीर बोलता है जैसा बजावे बजाने वाला वैसा संख बोलता है जैसे संख बजता है वैसे हड्डियों का बना हुआ संख हड्डी तो होता है वैसे हड्डी का बना हुआ ये शरीर इसमें से भी आवाज निकलती है बजाने वाला कोई दूसरा हो निर्भेदोपि स्वदेहम सकरण विषय ग्राम गेहम न्यस्तम प्रपश्यन् निरवधि करुणा वारिधेर तन भी बोल रहा है ध्वनि कर रहा है ध्वनि कर रहा है पुनः पुनः बोल रहा है क्या बोल रहा है सर्वम बर्बर ये सारी विश्व सृष्टि परमात्मा में है सच हृदय वो परमात्मा हृदय में है हृदय निर्दयम ब्रह्म हृदय है इसी हृदय जो हृदय में फुरफुराता है उसका नाम है हृदय वो क्या है का अद्वैत ब्रह्म है अपना आत्मा अद्वैत ब्रह्म सर्वम बर्बर तस्मिन सच हृदय हृदय निर्दयम ब्रह्म तस्मात कंपास्पर्धीतु कंबा परम परमिदम प्रशीतु प्रवीण फिर किससे स्पर्धा करें किससे होड़ लगावे कि तुम आगे नहीं हम आगे जब सब परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा हृदय में है और हृदय अद्वय ब्रह्म है तो किससे स्पर्धा करें कि हम तुमसे आगे बढ़ते हैं तुम हमसे आगे नहीं जा सकते इसके साथ स्पर्धा करें परम परमिदम वा तो प्रवीण जो तत्वज्ञ पुरुष है संसार की सृष्टि को जानता है वो ये छोटा है ये बड़ा है ये कार्य है ये कारण है ये पहले है ये पीछे है किसका स्पर्श करे क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा के सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु है ही है ही नहीं ऐसे बहुत देश को स्वच्छं किञ्चन चिच्चमत्कृतिघनम् विश्वार्पणम् दर्पणम् स्वच्छन्दम् विमृशामि माम् अहमिदम् त्वम् तद्विचित्रम् मा दिक्कालार्थविकासहास सुषमा विश्वक्रमा विक्रमाः स्पन्दन्ते सकलाकला अभिकलम् यस्मिन जगत रसमया मैं अपने आप को देखता हूँ मैं स्वच्छ हूँ कोई तो है ही नहीं चित चमत्कार का मैं घन हूँ घनीभूत चित चमत्कार हूँ मेरे अंदर फसा फस ठोस मुझ आत्म वस्तु में दूसरे का कोई स्थान ही नहीं है मैं एक संपूर्ण विश्व को दिखाने वाला दर्पण जैसे दर्पण के भीतर कुछ नहीं और दिखता सब है वैसे स्वच्छंदम विमृषा इमाम मैं एक विचित्र ज्योति के रूप में तेजस के रूप में भक्त के रूप में अपने आप का विमर्श कर रहा हूं आत्मा स्वच्छंदम विमृषा इमाम कैसा है वो मह कहामिदम त्वाम पद विचित्रम वही मैं है वही यह है वही वह है ऐसा विचित्र मैं भी वही यह भी वही वह भी वही इदम भी वही मैं भी वही यह भी वही वह भी वही तम तद विचित्रम ऐसा आश्चर्य में ज्योतिष स्वरूप में अपने को अनुभव करता हूँ ये जो दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो काल है भूत भविष्य वर्तमान ये जो वस्तुएं हैं हजारों लाखों अनगिनत इनका जो विकास है वो मेरी हंसी की सुंदरता है दिक्कालार्थ विकास हास सुषमा मेरी मुस्कान की सुंदरता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे पहले बाद में या वह तुम सब मेरी मुस्कान का चमत्कार है इनमें क्रम भी है और कोई क्रम नहीं है स्वप्न में कोई क्रम नहीं होता जागृत वो क्रम मालूम पड़ता है विश्व क्रमा विक्रमा स्पंदनते सकला कला अभिकलम यस्मिन जगत रस्मया ये जगत रूप किरण रश्मिया मुझ में सकल अकल रूप में जिसमें कोई कला नहीं है वो भी और जिसमें सारी कलाएं हैं वो भी ये मुझ में ही प्रतीत हो रहे हैं और जी पहले आपसे कहा कि बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी हैं हमारे जीवन में दुख नहीं है हम अपने को दुखी मानते हैं हमारे जीवन में जड़ता नहीं है हम अपने को जड़ मानते हैं हमारे जीवन में जन्म मृत्यु नहीं है हम अपने को जन्म मरण वाले मानते हैं हमारे अंदर जाना आना नहीं है पर हम जाना आना मानते हैं हमारे अंदर परिच्छिन्नता नहीं है परंतु हम अपने को परिच्छिन्न मानते हैं यही कहते हैं अनते नहीं वही प्रत्युधा श्रुति का कहना है कि लोग इस झूठ से इस अंधकार से इस असत्य से इस मिथ्या से ऐसे थक गए हैं ऐसे थक गए हैं कि इसमें बारंबार दुखी होते रहते हैं बेहोश होते रहते हैं मरने जन्मने के डर से जन, मरना जन्मना होता नहीं मरना जन्मना जन्मने का डर होता है इस डर से व्याकुल रहते हैं परंतु जब ये आ गया है तब इसको छुड़ाने के लिए हमारा प्रेम हो भगवान हो आप जन्म मृत्यु वाले से प्रेम करोगे जन्म से मरते रहोगे भगवान से प्रेम करोगे इससे छूट जाओगे आप संसार की जड़ वस्तुओं से प्रेम करोगे जड़ हो जाओगे और भगवान से प्रेम करोगे चेतन हो जाओगे आप संसार के दुखदायी पदार्थों से प्रेम करोगे दुखी हो जाओगे और आनंद स्वरूप प्रभु से प्रेम करोगे आनंद स्वरूप हो जाओगे जब आप अपने को श्रुति शास्त्र के अनुसार पहले भगवान से प्रेम करके अपनी विषयाशक्ति को मिटाओगे जब विषयाशक्ति मिटेगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा तो है हृदय और हृदय में है भगवान तो जो हृदय में हृदय को जिस चेतनता ने प्रकाशित कर रखा है जिस चैतन्य से हमारा हृदय प्रकाशित होता है उसी चैतन्य से हमारे हृदय में रहने वाले भगवान भी प्रकाशित तुम स्वयं हो वो दूसरा तो कोई है नहीं तो संसार की आसक्ति छुड़ाने के लिए भक्ति और अज्ञान को मिटाने के लिए तत्वज्ञान ये जीवन में आवश्यक है और ये दोनों संत सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है तो हमने प्रायः साधना का जो निचोड़ है आचरण शुद्ध करने के लिए धर्म और मन की चंचलता मिटाने के लिए योग विषयाशक्ति मिटाने के लिए भक्ति और अज्ञान मिटाने के लिए तत्वज्ञान ये आप देखो कि आप इस मार्ग पर चल रहे हो कि आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण करना ये तुम्हारा माना हुआ जन्म तुम्हारा जन्म नहीं है जिस मृत्यु से तुम डरते हो वो तुम्हारी मृत्यु नहीं है तुम नहीं रहोगे या नहीं थे ये कल्पना बिल्कुल बेकार है तुम जो इस समय हो यहाँ हो अभी हो इसी का नाम पर ब्रह्म परमात्मा है ये अद्वितीय है इसमें देश काल वस्तु का कोई भेद नहीं है परंतु जब तक विषय आसक्ति मिटेगी नहीं और सदगुरु मिलेंगे नहीं तत्व ज्ञान होगा नहीं तब तक ये अनुभव नहीं होता है तो अब शाम को भाई साढ़े पांच बजे बताते हैं बच्चों भाई आज आज के ही दिन पहले सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट की स्थापना हुई थी एक बात आपको सुनाना ये धानुकर जी जो है ये साहित्य सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और वृंदावन में आनंद वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं